बंधन का तो कोई अच्छा उपयोग नहीं क्योंकि बंधन ही बुरी बात है और जितना गहरा बंधन हो उतनी ही बुरी बात तो साइकिल बाइंडिंग तो बहुत बुरी बात है अगर मेरे हाथ में कोई जंजीर डाल दे तो चलेगा क्योंकि वो मेरे भौतिक शरीर को ही पकड़ पाती लेकिन कोई मेरे ऊपर प्रेम की जंजीर डाल दे तो ज्यादा झंझट शुरू हुई क्योंकि वो जंजीर गहरे चली गई वो जंजीर गहरे चली गई और उसको तोड़ना उतना आसान नहीं रह गया कोई श्रद्धा की जंजीर डाल दे तो और गहरी चली गई उसको तोड़ना और अनहोली काम हो गया ना अपवित्र काम हो गया वो और मुश्किल बात हो गई तो बंधन तो सभी बुरे हैं और मनस बंधन तो और भी बुरे हैं जो व्यक्ति शक्तिपात में वाहन का काम करे वो व्यक्ति तो तुम्हें बांधना ही ना चाहेगा अगर शक्तिपात हो रहा है तो वो व्यक्ति तो तुम्हें बांधना ना चाहेगा क्योंकि अगर वो बांधना चाहता हो तो वो पाथरी नहीं है कि वो वाहन बन सके हां लेकिन तुम बन सकते हो तुम बन सकते हो तुम उसके पैर पकड़ ले सकते हो कि मैं अब आपको ना छोड़ूंगा आपने मेरे ऊपर इतना उपकार किया उस समय सजग होने की जरूरत है उस समय बहुत सजग होने की जरूरत है कि साधक जिस पर बात हो वो अपने को बंधन से बचा सके लेकिन अगर ये ख्याल हो और अगर ये बात साफ हो कि बंधन मात्र आध्यात्मिक यात्रा में भारी पड़ जाते हैं तो अनुग्रह बांधेगा नहीं बल्कि अनुग्रह भी खोलेगा यानी मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हो जाऊं तो ये बंधन क्यों बने इसमें बंधन होने की क्या बात है बल्कि अगर मैं कृतज्ञता ज्ञापन ना कर पाऊं तो शायद भीतर एक बंधन रह जाए कि मैं धन्यवाद भी नहीं दे पाया लेकिन धन्यवाद देने का मतलब यह है कि बात समाप्त हो गई अनुग्रह बंधन नहीं है बल्कि अनुग्रह का भाव परम स्वतंत्रता का भाव है लेकिन हम कोशिश करते हैं बंधने की क्योंकि हमारे भीतर भय परम स्वतंत्रता का भाव है लेकिन हम कोशिश करते हैं बंधने की क्योंकि हमारे भीतर भय और हम सोचते हैं अकेले खड़े पकड़ के हम सुरक्षित होना चाहते एक तरह की सिक्योरिटी है और साधक को सुरक्षा से बचना चाहिए साधक के लिए सुरक्षा सबसे बड़ा मोहजाल है अगर उसने एक दिन भी सुरक्षा चाहिए और उसने कहा कि अब मैं किसी की शरण में सुरक्षित हो जाऊंगा और किसी की आड़ में अब कोई भय नहीं है अब मैं भटक नहीं सकता अब मैंने ठीक मुकाम पा लिया अब मैं कहीं जाऊंगा नहीं अब मैं यहीं बैठा रहूंगा तो वो भटक गया क्योंकि साधक के लिए सुरक्षा नहीं साधक के लिए असुरक्षा वरदान है क्योंकि जितनी असुरक्षा है उतने साधक की आत्मा को फैलने बलवान होने अभय होने का मौका है जितनी सुरक्षा है उतना साधक के निर्बल होने की व्यवस्था है वो उतना निर्बल हो जाएगा सहारा लेना एक बात है सहारा लिए ही चले जाना बिल्कुल दूसरी बात है सहारा दिया ही इसलिए गया है कि तुम बेसहारे हो सको सहारा दिया इसलिए गया है कि अब तुम्हें सहारे की जरूरत ना रहे एक बाप अपने बेटे को चलना सिखा रहा है कभी ख्याल किया कि जब बाप अपने बेटे को चलना सिखाता है तो बाप बेटे का हाथ पकड़ता है बेटा नहीं पकड़ता लेकिन थोड़े दिन बाद जब बेटा थोड़ा चलना सीख जाता है तो बाप का हाथ बाप तो छोड़ देता लेकिन बेटा पकड़ लेता कभी बाप को चलाते देखे तो अगर बेटा हाथ पकड़े हो तो समझो कि वो चलना सीख गया लेकिन फिर भी हाथ नहीं छोड़ रहा और अगर बाप हाथ पकड़े हो तो समझना कि भी चलना सिखाया जा रहा है भी छोड़ने में खतरा है अभी छोड़ा नहीं जा सकता और बाप तो चाहेगा ही ये कि कितने जल्दी हाथ छूट जाए क्योंकि इसलिए तो सिखा रहा है और अगर कोई बाप इस मोह से भर जाए तो उसे मजा आने लगे कि बेटा का हाथ ही पकड़े रहे तो वो बाप दुश्मन हो गया बहुत बाप हो जाते बहुत गुरु हो जाते लेकिन चूक गए वो जिस बात के लिए उन्होंने सहारा दिया था वही खत्म हो गई वो तो उन्होंने कृपिंड पैदा कर दिए जो उनकी वैसाखी लेके चलेंगे हालांकि उनको मजा आता है कि मेरी वैसाखी के तुम नहीं चल सकते तो अहंकार की तृप्ति मिलती है लेकिन जिस गुरु को अहंकार की तृप्ति मिल रही हो वो तो गुरु ही नहीं लेकिन बेटा पकड़े रह सकता है पीछे भी क्योंकि बेटा डर जाए कि कहीं गिर ना जाऊं क्योंकि बिना बाप के मैं कैसे चल सकूंगा तो गुरु का काम है कि उसके हाथ को झिड़के और कहे कि तुम चलो और कोई फिक्र नहीं दो चार बार गिरो तो ठीक है उठाना आखिर उठने के लिए गिरना जरूरी है और गिरने का डर मिटाने के लिए भी कुछ बार गिरना जरूरी है कि अब नहीं गिरेंगे हमारे मन में यह हो सकता है किसी का सहारा पकड़ना तो फिर बाइंडिंग पैदा हो जाती वो पैदा नहीं करना है किसी साधक को ध्यान लेके चलना है कि वो कोई सुरक्षा की तलाश में नहीं वो सत्य की खोज में सुरक्षा की खोज में नहीं और अगर सत्य की खोज करनी है तो सुरक्षा का ख्याल छोड़ना पड़ेगा नहीं तो असत्य बहुत बार बड़ी सुरक्षा देता है और जल्दी से दे देता है तो फिर सुरक्षा का खोजी असत्य को पकड़ लेता है कन्वीनियंस का खोजी सत्य तक नहीं पहुंचता क्योंकि लंबी यात्रा है फिर वो यहीं असत्य को गढ़ लेता और यहीं बैठे हुए पा लेता और बात समाप्त हो जाती इसलिए किसी भी तरह का बंधन और गुरु का बंधन तो बहुत ही खतरनाक है क्योंकि वो आध्यात्मिक बंधन है और आध्यात्मिक बंधन शब्द ही कंट्रडिक्टरी क्योंकि आध्यात्मिक स्वतंत्रता तो अर्थ रखती आध्यात्मिक गुलामी का कोई अर्थ नहीं होता लेकिन इस दुनिया में आध्यात्मिक रूप से जितने लोग गुलाम है उतने लोग और किसी रूप से गुलाम नहीं उसका कारण क्योंकि जिस चौथे शरीर के विकास से आध्यात्मिक स्वतंत्रता की संभावना पैदा होगी वो चौथा शरीर नहीं तो उसकी उसके कारण है वो तीसरे शरीर तक विकसित थे इसलिए अक्सर देखा जाएगा कि एक आदमी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस यूनिवर्सिटी का किसी वाइस चांसलर और किसी निपट गमार आदमी के पैर पकड़े बैठा हुआ है और उसको देख के उसको देख के हजार गमार उसके पीछे बैठे हुए कि जब हाईकोर्ट का जस्टिस बैठा है वाइस चांसलर बैठा है यूनिवर्सिटी का तो हम क्या है लेकिन उसे पता नहीं कि ये जो आदमी है इसका तीसरा शरीर तो बहुत विकसित हुआ है इसने बुद्धि का तो बहुत विकास किया था लेकिन चौथा शरीर के मामले में बिल्कुल गंवार है उसके पास वो शरीर नहीं है और इसके पास चूंकि तीसरा शरीर है केवल बुद्धि और तर्क का विचार करते करते ये थक गया और अब विश्राम कर रहा है और जब बुद्धि थक के विश्राम करती तो बड़ी अबुद्धिपूर्ण काम करती कोई भी चीज जब थक के विश्राम करती तो उल्टी हो जाती इसलिए ये बड़ा खतरा है इसलिए आश्रमों में आपको मिल जाएंगे हाईकोर्ट के जजेस वहां निश्चित मिलेंगे वो थक गए वो बुद्धि से परेशान हो गए वो इससे छुटकारा चाहते तो वो कोई भी अबुद्धिपूर्ण इरेशनल किसी भी चीज में विश्वास करके आंख बंद करके बैठ जाते हैं वो कहते हैं सोच लिया बहुत विवाद कर लिया बहुत तर्क कर लिया बहुत कुछ नहीं मिला अब इसको हम छोड़ते तो वो किसी को भी पकड़ लेते और उनको देख के पीछे जो बुद्धिहीन वर्ग है वो कहता जब इतने बुद्धिमान लोग हैं तो फिर हमको भी पकड़ लेना चाहिए लेकिन वो जहां तक चौथे शरीर का संबंध है निपट ना कुछ इसलिए चौथे शरीर के किसी व्यक्तित्व में थोड़ा सा भी विकास हुआ हो तो बड़े से बड़ा बुद्धिमान उसके चरणों को पकड़ के बैठ जाएगा क्योंकि उसके पास कुछ है जिसके मामले में बिल्कुल निर्धन है तो चूंकि चौथा शरीर विकसित नहीं है इसलिए बाइंडिंग पैदा होती है ऐसा मन होता है तो किसी को पकड़ लो जिसका विकसित है उसको पकड़ लो लेकिन उसको पकड़ने से विकसित नहीं हो जाएगा उसको समझने से विकसित हो सकता है और पकड़ना समझने से बचने का उपाय है कि समझने की क्या जरूरत है समझने की क्या जरूरत है हम आपके चरण पकड़े रहे तो जब आप वैतरणी पार हो गए हम भी हो जाएंगे हम आपको ही नाव बनाए लेते हम उसी में सवार रहेंगे जब आप पहुंचोगे हम भी पहुंच जाएंगे समझने में कष्ट है समझने में अपने को बदलना पड़ेगा समझना एक प्रयास एक साधना है समझना एक श्रम है समझना एक क्रांति है समझने में एक रूपांतरण होगा सब बदलेगा पुराना नया करना पड़ेगा इतनी झंझट क्यों करनी पड़ेगी जो आदमी जानता है हम उसको पकड़ हैं हम उसके पीछे चले जाएंगे लेकिन इस जगत में सत्य तक कोई किसी के पीछे नहीं जा सकता वहां अकेले ही पहुंचना पड़ता है वो रास्ता ही निर्जन है वो रास्ता ही अकेले का है इसलिए किसी तरह का बंधन वहां बाधा है तो सीखना समझना जहां से जो झलक मिले उसे लेना लेकिन रुकना कहीं भी मत किसी भी जगह को तुम मुकाम मत बना लेना और उसको हाथ पकड़ मत लेना कि सब ठीक आ गए हालांकि बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे कहा जाते हो रुक जाओ मेरे पास बहुत लोग मिलेंगे जिनको ये दूसरा हिस्सा है जैसे कि मैंने कहा भयभीत आदमी बंधना चाहता है किसी से तो कुछ भयभीत आदमी बांधना भी चाहते हैं किसी को उनको उससे भी अभय हो जाता है जिस आदमी को लगता है मेरे साथ हजार अनुयायी हैं उसको लगता है मैं ज्ञानी हो गया नहीं तो हजार अनुयायी कैसे होते जब हजार आदमी मुझे मानने वाले हैं तो जरूर मैं कुछ जानता हूं नहीं तो मानेंगे कैसे ये बड़े मजे की बात है कि गुरु बनना कई बार तो सिर्फ इसी मानसिक हीनता के कारण होता है कि दस हजार मेरे शिष्य हैं बीस हजार तो गुरु लगे हैं शिष्य बढ़ाने में कि मेरे सात सौ सन्यासी हैं मेरे हजार सन्यासी मेरे इतने शिष्य वो फैलाने में लगे हैं क्योंकि जितना ये विस्तार फैलता है वो आश्वस्त होते हैं कि जरूर मैं जानता हूं नहीं तो हजार आदमी मुझे क्यों मानते ये तर्क लौट के उनको विश्वास दिलाता है कि मैं जानता हूं अगर ये हजार शिष्य खो जाए तो उनको लगेगा कि गया इसका मतलब कि मैं नहीं जानता बड़ी मानसिक खेल चलते हैं बड़े मानसिक खेल चलते और उन मानसिक खेलों से सावधान होने की जरूरत है दोनों तरफ से क्योंकि दोनों तरफ से खेल हो सकता है शिष्य भी बांध सकता है और जो शिष्य आज किसी से बंधेगा वो कल किसी को बांधेगा क्योंकि सब श्रृंखलाबद्ध काम है वो आज शिष्य बनेगा तो कल गुरु भी बनेगा क्योंकि शिष्य कब तक बना रहेगा अभी एक को पकड़ेगा तो कल फिर किसी को खुद को भी पकड़ाएगा श्रृंखलाबद्ध गुलामियां है मगर उसका बहुत गहरे में कारण वो चौथे शरीर का विकसित न होना है उसको विकसित करने की चिंता चले तो तुम स्वतंत्र हो सकोगे फिर बंधन नहीं होगा इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अमानवीय हो जाओगे कि तुम्हारा मनुष्यों से कोई संबंध न रह जाएगा बल्कि इसका मतलब ही उल्टा असल में जहां बंधन है वहां संबंध होता ही नहीं अगर एक पति और पत्नी के बीच बंधन है हम कहते ना कि विवाह बंधन में बंध रहे निमंत्रण पत्रिकाएं भेजते हैं कि मेरा बेटा और मेरी बेटी प्रणय सूत्र के बंधन में बंध रहे हैं जहां बंधन है वहां संबंध नहीं हो सकता क्योंकि गुलामी में कैसा संबंध कभी भविष्य में जरूर कोई बाप निमंत्रण पत्र भेजेगा कि मेरी बेटी किसी के प्रेम में स्वतंत्र हो रही है वो तो समझ में आती है बात कि अब किसी का प्रेम उसको स्वतंत्र कर रहा है जीवन में अब उसके ऊपर कोई बंधन नहीं रहेगा वो मुक्त हो रही है प्रेम में और प्रेम मुक्त करना चाहिए अगर प्रेम भी बांध लेता है तो फिर जगत में मुक्त क्या करेगा कौन करेगा और जहां बंधन है वहां सब कष्ट हो जाता सब नरक हो जाता ऊपर से चेहरे और रह जाते हैं भीतर सब गंदगी हो जाती वो चाहे गुरु शिष्य का हो चाहे बाप बेटे का हो चाहे पति पत्नी का हो चाहे दो मित्रों का हो जहां बंधन है वहां संबंध नहीं होता और अगर संबंध है तो बंधन बेमानी लगता तो ऐसा ही है कि जिससे हम बंधे हैं उसी से संबंध है लेकिन सिर्फ उसी से हमारा संबंध होता है जिससे हमारा कोई भी बंधन नहीं इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि आप अपने बेटे से वो बात नहीं कह सकते जो एक अजनबी से कह सकते मैं इधर हैरान हुआ हूं जान के कि पत्नी अपने पति से नहीं कह सकती और ट्रेन में एक अजनबी आदमी से कह सकती जिसको बिल्कुल नहीं जानती घंटे भर पहले मिला है असल में कोई बंधन नहीं है तो संबंध के लिए सरलता मिल जाती इसलिए तुम एक अजनबी से जितने भले ढंग से पेश आते हो उतना परिचित से नहीं आते वहां कोई भी तो बंधन नहीं है तो सिर्फ संबंध ही हो सकता है लेकिन परिचित के साथ तुम उतने भले ढंग से कभी पेश नहीं आते क्योंकि वहां तो बंधन है वहां नमस्कार भी करते हो तो ऐसा मालूम पड़ता है काम इसलिए गुरु शिष्य का एक संबंध तो हो सकता है और संबंध सब मधुर है लेकिन बंधन नहीं हो सकता असंबंध का मतलब यह है कि वो मुक्त करता है जेन फकीरों की एक बात बड़ी कीमती है कि अगर किसी भी जेन फकीर के पास कोई सीखने आएगा जब वो सीख चुका होगा तब वो उससे कहेगा कि अब मेरे विरोधी के पास चले जाओ अब कुछ दिन वहां सीखो क्योंकि एक पहलू तुमने जाना अब तुम दूसरे पहलू को समझो और फिर साधक अलग अलग आश्रमों में वर्षों घूमता रहेगा उनके पास जाके बैठेगा जो उसके गुरु के विरोधी में उनके चरणों में बैठेगा और उनसे भी सीखेगा क्योंकि उसका गुरु कहेगा कि हो सकता है वो ठीक हो तो उधर भी जाके सारी बात समझ लो और कौन ठीक है इसका क्या पता हो सकता है हम दोनों से मिलकर जो बनता हो वही ठीक हो या ये भी हो सकता है कि हम दोनों को काट के जो बसता हो वही ठीक हो इसलिए जाओ उसे खोजो जब कोई देश में आध्यात्मिक प्रतिभा विकसित होती है तो ऐसा होता है तब बंधन नहीं बनती चीजें अब ये मैं चाहता हूं ऐसा इस मुल्क में जिस दिन हो सकेगा उस दिन बहुत परिणाम होंगे कि कोई किसी को बांधता ना हो भेजता हो लंबी यात्रा पर कि वो जाए और कौन जानता है क्या होगा अंतिम लेकिन जो इस भांति भेज देगा अगर कल तुम्हें उसकी सब बातें भी गलत मालूम पड़े तब भी वो आदमी गलत मालूम नहीं पड़ेगा जो इस भांति तुम्हें भेज देगा कि जाओ कहीं और खोजो हो सकता है मैं गलत हूं तो ये हो भी सकता है कि किसी दिन उसकी सारी बातें भी तुम्हें गलत मालूम पड़े तब भी तुम अनुग्रहित रहोगे तो वो आदमी कभी गलत नहीं हो पाएगा क्योंकि वो आदमी नहीं तो भेजा था तुम्हें अभी हालत ऐसी है कि सब रोक रहे एक गुरु रोकता है किसी दूसरे की बात में सुन लेना शास्त्रों में लिखता है कि दूसरे के मंदिर में मत चले जाना चाहे पागल हाथी के पैर के नीचे दब के मर जाना मगर दूसरे के मंदिर में शरण भी मत लेना कहीं ऐसा ना हो कि वहां कोई चीज कान में पड़ जाए तो भला ऐसे आदमी की सब बातें भी सही हो तब भी यह आदमी तो गलत ही है और इसके प्रति अनुग्रह कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसने तुम्हें गुलाम बनाया कुचल डाला और मार डाला तो यह अगर ख्याल में आ जाए तो बंधन का कोई सवाल नहीं आपने कहा सच्ची बात प्रामाणिक हो मन शुद्धतम हो तो बंधन नहीं हाँ नहीं होगा हैं कि पक्षीपात के नाम पर साइकिक एक्सप्लाइटेशन संभव है क्या कैसे संभव है और उससे साधक बचे कैसे संभव है शक्तिपात के नाम पर बहुत आध्यात्मिक शोषण संभव है असल में जहां भी दावा है वहां शोषण होगा और जहां कोई कहता है मैं कुछ दूंगा वो लेगा भी कुछ क्योंकि देना जो है वो बिना लेने के नहीं हो सकता जहां कोई कहेगा मैं कुछ देता हूं वो तुमसे वापस भी कुछ लेगा क्वाइन कोई भी हो वो धन के रूप में ले आदर के रूप में ले श्रद्धा के रूप में ले किसी भी रूप में ले वो लेगा जरूर जहां देना है आग्रह पूर्वक दावे पूर्वक वहां लेना है और जो देने का दावा कर रहा है वो जो देगा उससे ज्यादा लेगा नहीं तो बाजार में चिल्लाने की उसे कोई जरूरत ना थी असल में वो दे इसी तरह रहा है जैसे कोई मछली मारने वाला कांटे पर आटा लगाता है क्योंकि मछली कांटे नहीं खाती हो सकता है किसी दिन मछलियों को समझाया बुझाया जा सके वो सीधा कांटा खा ले अभी तक कोई मछली सीधा कांटा नहीं खाती उस पर ऊपर आटा लगाना पड़ता है हम मछली आटा खा ले और आटे के दावे की वजह से कांटे के पास आ जाती आटा मिलेगा इस हासे में कांटे को भी घटक जाती गटकने पर पता चलता है कि आटा तो व्यर्थ था कांटा असली था लेकिन तब तक कांटा छिट गया होता तो जहां दावा है कोई कहे कि मैं शक्तिपात करूंगा मैं ज्ञान दिलवा दूंगा मैं समाधि में पहुंचा दूंगा मैं ऐसा करूंगा मैं वैसा करूंगा जहां ये दावे हो वहां सावधान हो जाना क्योंकि उस जगत का आदमी दावेदार नहीं होता उस जगत के आदमी से अगर तुम कहोगे भी जाके कि आपकी वजह से मुझ पर शक्तिपात हो गया तो वो कहेगा तुम किसी भूल में पड़ गए मुझे तो पता ही नहीं मेरी वजह से कैसे हो सकता है उस परमात्मा की वजह से ही हुआ होगा वहां तो तुम धन्यवाद देने जाओगे तो भी स्वीकृति नहीं होगी कि मेरी वजह से हुआ है वो तो कहेगा तुम्हारी अपनी ही वजह से हो गया होगा तुम किस भूल में पड़ गए हो वो परमात्मा की कृपा से हो गया होगा मैं कहा हूं मैं किस कीमत में हूं मैं कहा आता हूं जीसस निकल रहे हैं एक गांव से और एक बीमार आदमी को लोग उनके पास लाए हैं उन्होंने उसे गले से लगा लिया और वो ठीक हो गया और वो आदमी कहता है कि मैं आपको कैसे धन्यवाद दू क्योंकि आपने मुझे ठीक कर दिया जीसस ने कहा कि ऐसी बातें मत कर जिसे धन्यवाद देना है उसे धन्यवाद दे मैं कौन मैं कहा आता हूं उस आदमी ने कहा आपके सिवा तो यहां कोई भी नहीं तो जीसस ने कहा हम तुम दोनों नहीं जो है वो तुझे दिखाई ही नहीं पड़ रहा उससे ही सब हो रहा है ही हैज हील्ड यू उसी ने तुझे स्वस्थ कर दिया है अब ये जो आदमी है ये कैसे शोषण करेगा शोषण करने के लिए आटा लगाना पड़ता कांटे पर ये तो कांटा तो दूर आटा भी मेरा है ये भी मानने को राजी नहीं तो कोई इसका कोई उपाय नहीं है तो जहां तुम्हें दावा दिखे साधक को वहीं वहीं समझ जाना जहां कोई करे कि ऐसा मैं कर दूंगा ऐसा हो जाएगा वहां वो तुम्हारे लिए तैयार करता है वो तुम्हारी मांग को जगा रहा है वो तुम्हारी अपेक्षा को उकसा रहा है वो तुम्हारी वासना को त्वरित कर रहा है और जब तुम वासना ग्रस्त हो जाओ कहोगे कि दो महाराज तब वो तुमसे मांगना शुरू कर देगा बहुत शीघ्र तुम्हें पता चलेगा कि आटा ऊपर था कांटा भीतर इसलिए जहां दावा हो वहां संभल के कदम रखना वो खतरनाक जमीन है जहां कोई गुरु बनने को बैठा हो उस रास्ते से मत निकलना क्योंकि वहां उलझ जाने का डर है इसलिए साधक कैसे बचे बस वो दावे से बचे तो सबसे बच जाएगा वो दावे को न खोजे वो उस आदमी की तलाश ना करे जो दे सकता है नहीं तो झंझट में पड़ेगा क्योंकि वो आदमी भी तुम्हारी तलाश कर रहा है जो फंस सकता है वो सब घूम रहे हैं वो भी घूम रहा है कि कौन आदमी को चाहिए तुम मांगना ही मत तुम दावे को स्वीकार ही मत करना और तब तुम्हें जो करना है वो और बात है तुम्हें जो तैयारी करनी है वो तुम्हारे भीतर तुम्हें करनी है और जिस दिन तुम तैयार गए उस दिन वो घटना घट जाएगी उस दिन किसी भी माध्यम से घट जाएगी माध्यम गौण है खूंटी की तरह है जिस दिन तुम्हारे पास कोट होगा क्या तकलीफ पड़ेगी खूंटी खोजने में कहीं भी टांग लोगे नहीं भी खूंटी होगी तो दरवाजे पर टांग दोगे दरवाजे नहीं होगा झाड़ की शाखा पर टांग दोगे कोई भी खूंटी का काम कर देगा असली सवाल कोर्ट का है लेकिन कोर्ट नहीं है हमारे पास खूंटी दावा कर रही किधर आओ मैं खूंटी यहां हूं तुम फंसोगे कोर्ट तो तुम्हारे पास नहीं है खूंटी के पास जाके भी क्या करोगे खतरा यही है कि खूंटी में तुम ही ना टंग जाओ तो कोट तो नहीं है तुम्हारे पास इसलिए अपनी पात्रता खोजना है अपनी योग्यता खोजनी है अपने को उस योग बनाना है कि मैं किसी दिन प्रसाद को ग्रहण करने योग बन सकू फिर तुम्हें चिंता नहीं लेनी है वो तुम्हारी चिंता नहीं इसलिए कृष्ण जो कहते हैं अर्जुन को वो ठीक ही कहते हैं उसका मतलब ही इतना है वो कहते तू कर्म कर और फल परमात्मा पर छोड़ दे उसकी तुझे फिक्र नहीं करनी उसकी तूने फिक्र की तो कर्म में बाधा पड़ती क्योंकि उसकी फिक्र की वजह से ऐसा लगता है कर्म क्या करने फल की पहले चिंता करो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि क्या करना है मुझे फल क्या होगा इसको देखो और तब तब गलती सुनिश्चित हो जाने वाली इसलिए कर्म की फिक्र ही अकेली फिक्र है हमारी हम अपने को पात्र बनाने योग्य करते रहे जिस दिन क्षमता हमारी पूरी होगी ऐसे ही जैसे जिस दिन बीज की क्षमता फूटने की पूरी होती है उस दिन सब मिल जाता है जिस दिन फूल खिलने को पूरा तैयार होता है कली टूटने को तैयार होती है सूरज तो निकल भी आता है उसमें कोई अड़चन नहीं सूरज सदा तैयार है लेकिन हमारे पास कली नहीं है खिलने को सूरज निकल गया है होगा क्या इसलिए सूरज की तलाश मत करो अपनी कली को गहरा करने की फिक्र करो सूरज सदा निकला हुआ है वो तत्काल उपलब्ध हो जाता है इस जगत में पात्र एक क्षण को भी खाली नहीं रह जाता जिस तरह की भी पात्रता हो वो तत्काल भर दी जाती असल में पात्रता का हो जाना और भर जाना दो घटनाएं नहीं एक ही घटना के दो पहलू जैसे हम इस कमरे की हवा बाहर निकाल दें दूसरी हवा इस कमरे की खाली जगह को तत्काल भर देगी ये दो हिस्से नहीं है इधर हम निकाल नहीं पाए कि उधर नई हवा ने दौड़ना शुरू कर दिया ऐसे ही अंतर जगत के नियम है हम इधर तैयार नहीं हुए कि वहां से जो हमारी तैयारी की मांग है वो उतरनी शुरू हो जाए लेकिन कठिनाई हमारी है कि हम तैयार नहीं होते और मांग हमारी शुरू हो जाती तब झूठी मांग के लिए झूठी सप्लाई भी हो जाती अब मैं इधर बहुत हैरान होता हूं ऐसे लोग हैरानी में डालते हैं एक आदमी आता वो कहता है मुझे मेरा मन बड़ा आसान है मुझे शांति चाहिए उससे आधा घंटे में बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि सच में ही तुम्हें शांति चाहिए तो वो कहता शांति तो अभी क्या है कि मेरे लड़के को पहले नौकरी चाहिए उसी की वजह से अशांति है नौकरी मिल जाए तो ठीक हो जाए तब यह आदमी कहता हुआ आया था कि मुझे शांति चाहिए वो इसकी जरूरत नहीं इसकी असली जरूरत दूसरी जिसका शांति से कुछ लेना देना नहीं है इसकी जरूरत है कि इसके लड़के को नौकरी चाहिए तब ये मेरे पास गलत आदमी के पास आ गया अब वो जो बाजार में दुकान लेकर बैठा है वो कहता नौकरी चाहिए इधर आओ हम नौकरी भी दिलवा देंगे और शांति भी मिल जाएगी इधर जो भी आते हैं उनको नौकरी मिल जाती इधर जो आते हैं उनका धन बढ़ जाता है इधर जो आते हैं उनकी दुकान चलने लगती और उस दुकान के आसपास दस पांच आदमी आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे मेरे लड़के को नौकरी मिल गई मेरी पत्नी मरते से बच गई मेरा मुकदमा हारते से जीत गया धन के अंबार लग गए वो दस आदमी उस दुकान के आसपास मिल जाएंगे ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं ऐसा भी नहीं कि वो किराए के आदमी ऐसा भी नहीं कि वो दुकान के दलाल नहीं ऐसा कुछ भी नहीं जब हजार आदमी किसी दुकान पर नौकरी खोजने आते हैं दस को मिल ही जाती जिनको मिल जाती वो रुक जाते हैं नौ सौ निन्यानबे चले जाते वो जो रुक जाते हैं वो खबर करते रहते धीरे धीरे उनकी भीड़ बड़ी होती जाती इसलिए हर दुकान के पास ऑथेंटिक है वो दावेदार वो जो कह रहे हैं मेरे लड़कों को नौकरी मिली इसमें झूठ नहीं है कोई ये कोई खरीदा हुआ आदमी नहीं ये भी आया था इसके लड़कों को मिली है जिनको नहीं मिली है वो जा चुके हैं वो दूसरे गुरु को खोज रहे हैं कि कहा मिले जहां मिले वहां चले गए यहाँ वही रह गए जिनको मिल गई वो हर साल लौट आते हैं हर त्यौहार पर लौट आते हैं उनकी भीड़ बढ़ती चली जाती और इस आदमी के आसपास एक वर्ग खड़ा हो जाता है जो सुनिश्चित प्रमाण बन जाता है भाई मिली है इतने लोगों को तो मुझे क्यों ना मिलेगी ये आटा बन जाता है और कांटा बीच में है और ये सारे लोग आटे बन जाते हैं और आदमी फंस जाता है मांगना ही मत नहीं तो फंसना निश्चित मांगना ही मत अपने को तैयार करना और भगवान पे छोड़ देना कि जिस दिन होता होगा होगा नहीं होगा तो हम समझेंगे हम पात्र नहीं थे साधक का कई व्यक्तियों के माध्यम से शक्तिपात लेना उचित है या हानि कंडक्टर बदलने में क्या क्या हानियां संभव है और क्या असल तो ये है कि बहुत बार लेने की जरूरत तभी पड़ेगी जबकि शक्तिपात ना हुआ हो बहुत लोगों से लेने की जरूरत तभी पड़ेगी जबकि पहले जिनसे लिया हो वो बेकार गया हो न हुआ हो अगर हो गया तो बात खत्म है बहुत बार लेने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि दवा काम नहीं कर पाई बीमारी अपनी जगह खड़ी है स्वभावतः फिर डॉक्टर बदलने पड़ते हैं लेकिन जो बीमार ठीक हो गया वो नहीं पूछता कि डॉक्टर बदलू या ना बदलू वो जो ठीक नहीं हुआ वो कहता है कि मैं दूसरे डॉक्टर से दवा लू या क्या करूं दस बीस डॉक्टर बदल लेता है तो एक तो अगर शक्तिपात की किरण उपलब्ध हुई जरा भी तो बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है वो तो प्रश्न ही नहीं है फिर उसका नहीं उपलब्ध हुई तो बदल, बदलना ही पड़ता है वो बदलते ही रहते हैं आदमी और अगर उपलब्ध हुई है कभी एक से तो फिर किसी से भी उपलब्ध होती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता वो सब एक ही स्रोत से आने वाले माध्यम ही अलग है कोई अंतर नहीं पड़ता रोशनी सूरज से आती कि दिए से आती कि बिजली के बल्ब से आती से कोई फर्क नहीं पड़ता प्रकाश एक का ही है उससे कोई अंतर नहीं पड़ता अगर घटना घटी है तो कोई अंतर नहीं पड़ता और कोई हानि नहीं लेकिन इसको खोजते मत फिरना वही मैं कह रहा हूं इसे खोजते मत फिरना ये मिल जाए रास्ते पर चलते तो धन्यवाद दे देना और आगे बढ़ जाना इसे खोजना मत खोजोगे तो खतरा है क्योंकि फिर वो जो दावेदार है वही तो तुम्हें मिलेंगे ना वो नहीं मिलेगा जो दे सकता था वो मिलेगा जो कहता है देते जो दे सकता है वो तो तुम्हें उसी दिन मिलेगा जिस दिन तुम खोज ही नहीं रहे हो लेकिन तैयार हो गए हो वो उसी दिन मिलेगा इसलिए खोजना गलत है मांगना गलत है होती रहे घटना होती रहे और हजार रास्तों से प्रकाश मिले तो हर्ज नहीं सब रास्ते एक ही प्रकाश के मूल स्रोत को प्रमाणित करते चले जाएंगे सब तरफ से मिलके वही कल मुझसे कोई कह रहा था किसी साधु के पास जाके कहा होगा ज्ञान अपना होना चाहिए तो उन साधु ने कहा ऐसा कैसे हो सकता ज्ञान तो सदा पराय का होता फला मुनि ने फला मुनि को दिया उन मुनि ने उन मुनि को दिया खुद कृष्ण गीता में कहते हैं कि उससे उसको मिला उससे उसको मिला उससे उसको मिला तो कृष्ण के पास भी अपना नहीं तो मैंने उसको कहा कि कृष्ण के पास अपना है लेकिन जब वो कह रहे हैं कि उससे उसको मिला उससे उसको मिला तो वो ये कह रहे हैं कि जो ये ज्ञान मेरा है ये जो मुझे घटित हुआ है ये मुझे ही घटित नहीं हुआ है ये पहले फला आदमी को भी घटित हुआ था और प्रमाण है कि उसको घटित हुआ था उसने फला आदमी को बताया भी था और फला आदमी को भी घटित हुआ था उसने उसको भी बताया था लेकिन बताने से घटित नहीं हुआ था घटाने से बताया था तो मुझको भी घटित हुआ मैं तुम्हें बता रहा हूं अर्जुन से कह रहे हैं लेकिन मेरे बताने से तुम्हें घटित हो जाएगा ऐसा नहीं तुम्हें घटित होगा तो तुम भी किसी को बता सकोगे ऐसा है उसे दूसरे से मांगते ही मत फिरना वो दूसरे से मिलने वाली बात नहीं उसकी तो तैयारी करना फिर वो बहुत जगह से मिलेगी सब जगह से मिलेगी और एक दिन जिस दिन घटना घटती है उस दिन ऐसा लगता है कि मैं कैसा अंधा हूं जो चीज सब तरफ से मिल रही थी वो मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ती थी एक अंधा आदमी है वो दिए के पास से भी निकलता है वो सूरज के पास से भी निकलता है बिजली के पास से भी निकलता है लेकिन प्रकाश नहीं मिलता और एक दिन जब उसे आंख खुलती तब वो कहता मैं कैसा अंधा था कितनी जगह से निकला सब जगह प्रकाश था और मुझे दिखाई नहीं पड़ा था और अब मुझे सब जगह दिखाई पड़ रहा है तो जिस दिन घटना घटेगी उस दिन तो तुम्हें सब तरफ वही दिखाई पड़ेगा और जब तक नहीं घटी है तब तक जहां भी दिखाई पड़े वहां उसको प्रणाम कर लेना जहां भी दिखाई पड़े वहां उसे पी लेना लेकिन मांगते मत जाना भिखारी की तरह मत जाना क्योंकि सत्य भिखारी को नहीं मिल सकता उसे मांगना मत नहीं तो कोई दुकानदार बीच में मिल जाएगा जो कहेगा हम देते और तब एक आध्यात्मिक शोषण शुरू हो जाए तुम चलना अपनी राह है अपने को तैयार करते हैं अपने को तैयार करते हैं जहां मिल जाए ले लेना धन्यवाद दे के आगे बढ़ते हैं फिर जिस दिन तुम्हें पूरा उपलब्ध होगा उस दिन तुम ऐसा ना कह पाओगे मुझे फलाने से मिला उस दिन तुम यही कहोगे कि आश्चर्य मुझे सबसे मिला जिनके करीब में गया सभी से मिला और तब अंतिम धन्यवाद जो है वो समस्त के प्रति हो जाता है वो किसी एक के प्रति नहीं रह जाती हाँ हाँ वो कम होगा ही असल में दूसरे से कुछ भी मिलेगा तो वो कम होता चला जाएगा वो सिर्फ झलक है वो तो उ, उस उस पर तुम्हें निर्भर भी नहीं होना है उसे तो तुम्हें अपने भीतर ही जगाना है किसी दिन तभी वो कम नहीं होगा असल में सब प्रभाव क्षीण हो जाएंगे क्योंकि प्रभाव जो है वो फॉरेन वो विजाती है वो बाहरी है मैंने एक पत्थर फेंका तो पत्थर की कोई अपनी ताकत नहीं है मैंने फेंका मेरे हाथ की ताकत तो मेरी हाथ की ताकत जितनी लगी है पत्थर उतने दूर जाके गिर जाएगा लेकिन बीच में जब पत्थर हवा चीरेगा तो पत्थर को ख्याल हो सकता है कि अब तो मैं हवा चीरने लगा अब तो मुझे गिराने वाला कोई भी नहीं लेकिन उसे पता नहीं कि वो प्रभाव से गया है किसी के धक्के से गया है दूसरे का हाथ पीछे वो पचास फीट दूर जाके गिर जाएगा गिरेगा ही असल में दूसरे से आए प्रभाव की सदा सीमा होगी वो गिर जाएगा दूसरे से आए प्रभाव का एक ही फायदा हो सकता है और वो ये है कि उस प्रभाव की छीन झलक में तुम अपनी अपने मूल स्रोत को खोज सको तो तो ठीक यानी मैंने एक माचिस जलाई प्रकाश हुआ तो मेरी माचिस कितनी देर जलेगी अब तुम दो काम कर सकते हो तुम यही अंधेरे में खड़े रहो मेरी माचिस पर निर्भर हो जाओ कि हम इस रोशनी में जिएंगे अब एक घड़ी क्षण भर भी नहीं बीतेगा माचिस बुझ जाएगी फिर घुप अंधेरा हो जाएगा ये एक बात हुई मैंने माचिस जलाई घुप अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी हुई तुम तो एकदम दरवाजा दिखाई पड़ा और बाहर भाग गए तुम तो मेरी माचिस पर निर्भर न रहे तुम बाहर निकल गए मेरी माचिस बुझे या जले अब तुम्हें कोई मतलब न रहा लेकिन तुम वहां पहुंच गए जहां सूरज अब कोई चीज स्थिर हो पाएगी तो ये जितनी घटनाएं हैं इनका एक ही उपयोग है कि इससे तुम समझ के कुछ कर लेना अपने भीतर इस इसके लिए मत रुक जाना इसकी प्रतीक्षा करते रहोगे तो, तो बार बार माचिस जलेगी बुझेगी फिर धीरे धीरे कंडीशनिंग हो जाएगी फिर तुम इसी माचिस के मुहताज हो जाओगे फिर तुम अंधेरे में प्रतीक्षा करते रहो कब जले फिर जलेगी तो तुम प्रतीक्षा करोगे बुझने वाली है बुझने वाली अब गए अब गए फिर अंधेरा हो जाएगा बस ये चक्कर पैदा हो जाएगा नहीं जब माचिस जले तब माचिस पे मत रोकना क्योंकि माचिस इसलिए जली है कि तुम रास्ता देखो और भागो निकल जाओ जितने दूर अंधेरे के बाहर जा सकते हो दूसरे से हम इतना ही लाभ ले सकते हैं लेकिन दूसरे से हम स्थाई लाभ नहीं ले सकते पर ये कोई कम लाभ नहीं ये कोई थोड़ा लाभ नहीं बहुत बड़ा लाभ है दूसरे से इतना भी मिल जाता है ये भी आश्चर्य इसलिए जो दूसरा अगर समझदार होगा तो तुमसे नहीं कहेगा कि रुको तुमसे कहेगा माचिस जल गई अब तुम भागो अब तुम यहां ठहरना मत नहीं तो माचिस तभी बुझ जाएगी लेकिन अगर दूसरा तुमसे कहे कि अब रुको देखो मैंने माचिस जलाई अंधेरे में और किसी ने तुमने तो जलाई ना मैंने जलाई अब तुम मुझसे दीक्षा लो अब तुम यहीं ठहरो अब तुम कहीं छोड़ कर मत जाना खाओ कसम अब ये संबंध रहेगा अब ये टूट नहीं सकता मैंने माचिस जलाई मैंने तुम्हें अंधेरे में दिखाया अब तुम किसी और की माचिस के पास तो ना जाओगे अब तुम कोई और प्रकाश तो ना खोजोगे अब तुम किसी और गुरु के पास मत रोकना सुनना भी मत अब तुम मेरे हुए तो फिर तो फिर खतरा हो गया इससे अच्छा था यह आदमी माचिस न जलाता इसने बड़ा नुकसान किया अंधेरे में तुम खोज भी लेते किसी तरह टकराते धक्के खाते किसी दिन प्रकाश में पहुंच जाते अब इस माचिस को पकड़ने की वजह से बड़ी मुश्किल हो गई अब कहा जाओगे और तब इतना भी पक्का है कि ये माचिस इस आदमी की अपनी नहीं है ये किसी से चुरा लाया कहीं से चुराई गई माचिस नहीं तो इसको अब तक पता होता है कि बाहर भेजने के लिए है ये किसी को रोकने के लिए नहीं यहाँ बिठा रखने के लिए नहीं कि चोरी की गई माचिस इसलिए अब ये माचिस की दुकान करता है अब ये कह रहा है जिन जिन को हम झलक दिखा देंगे उनको ही रुका रहना पड़ेगा वो कहीं जा नहीं सकते अब तो हद हो गई अंधेरा रोकता था अब ये गुरु रोकने लगा इससे अंधेरा अच्छा था कि कम से कम अंधेरा हाथ फैला के तो नहीं रोक सकता था अंधेरा का जो रोकना था वो बिल्कुल ही पैसिव था लेकिन ये गुरु तो एक्टिव रोकेगा तो हाथ पकड़ कर रोकेगा हाँ, छाती अड़ा देगा बीच में और कहेगा कि धोखा दे रहे हो दगा कर रहे हो अभी एक लड़की ने मुझे आके कहा कि उसके गुरु ने उससे कहा कि तुम उनके पास क्यों गई ये तो ऐसे ही है जैसे कोई पत्नी अपने पति को छोड़ के चली जाए गुरु कह रहा उससे कि ये तो जैसे हम्म, पत्नी व्रत और पति व्रत एक के साथ होता है ऐसा गुरु को छोड़कर चला जाए कोई दूसरे के पास तो ये महान पाप है चुराई हुई माचिस वाला अब माचिस से काम चलाएगा और चुराई जा सकती है माचिसें तो कोई कठिनाई नहीं है शास्त्रों में बहुत माचिसें उपलब्ध है उनको कोई चुरा दो जल सकने का मतलब यह है कि असल में अंधेरे में मजा ऐसा है अंधेरे में मजा ऐसा जिसने प्रकाश देखा ही नहीं उसको कौन सी चीज जलती हुई बताई जा रही ये भी तय करना मुश्किल ना जिसने प्रकाश देखा ही नहीं उसे कौन सी चीज जलाई हुई बताई जा रही है ये पक्का करना बहुत मुश्किल है तो प्रकाश के बाद उसको पता चलेगा कि तुम क्या जला रहे थे क्या नहीं जला रहे थे वो जल भी रही थी कि नहीं जल रही कि आंख बंद करके समझा रहे थे कि जल गई वो सब तो तुम्हें प्रकाश दिखाई पड़ेगा तब तुम्हें पता चलेगा जिस दिन प्रकाश दिखाई पड़ेगा उसमें सौ में से निन्यानवे गुरु अंधेरे के साथी और प्रकाश के दुश्मन सिद्ध होते हैं पता चलता है कि तो बहुत दुश्मन थे ये सब शैतान की एजेंसीज थे